भला बताओ कि जिस शख्स की नज़रों में उसकी बदअमली ही खुशनुमा बनाकर पेश की गई हो जिसकी बिना पर वो इस बदअमली को अच्छा समझता हो वो नेक आदमी के बराबर कैसे हो सकता है क्योंकि अल्लाह जिसको चाहता है रास्ते से भटका देता है और जिसको चाहता है ठीक रास्ते पर पहुंचा देता है लिहाजा ए पैगंबर ऐसा ना हो कि इन काफिरों पर अफसोस के मारे तुम्हारी जान ही जाती रहे یقین رکھو کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے